भय मगन गगन भय लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा अनुचित उचित कज किछु हो समझी करिय भल कह को सहसा करे पाथे पछताहे कारी वेद बुध ते बुध नाही सारा जगत भय में डूब गया तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है बचन लखन सकुचारे राम सियसा दर्शन माने कही तात तुम नीति सुहाई ते कठिन राजु मे जो अचवत्पमातहि तेहि नाहि न साधु सभाजेहि सुनहु लखन भल भरत शरिषा विपञ्चम सुना न जीषा देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे हुई राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हो पीते ही मतवाले हो जाते हैं हे लक्ष्मण सुनो भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है भरत ही हो ही न राजू मधु विधि हरि हर पद पाए हुक कांजे से करनी अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है फट सकता है तरुण तर निहिम मगन मगन मु मेघ हि गोपद जलबो नहि घट जोले सहज छोले मसक मसक मकु मेरु उडये न लिप मधु भरत भाई लखन तुम्हार सपथ पे तुआना सुचि सो बंधु लहे भरत समाना अंधकार चाहे तरुण मध्यान्ह के सूर्य को निगल जाए आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राज्य मत कभी नहीं हो सकता हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है खगुलुभिरु अवगुण जलुता मिलयि रचयि पर पञ्चो विधाता भरत हंसर वि वंस तडा गाय जनमे किन् गुण दोष विभाय बलि न पयतज अवगुण भारी निज जस जगत किन्हू जियारी कहत भरत गुण शेल सुभाओ प्रेम पयोधि मगन रघुराओ हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया दोनों को अलग अलग कर दिया गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए सुनी रघु पर विबुध देख भरत पर है तू सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निके श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है